एक वृत्ति के साथ आपको आत्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा ये तो सर्वाणी भूतानी आत्म आत्मन्यवानुपस्थिति और सर्वभूतेषु आत्मान वहाँ सभी भूतों की पृथक किसी की सत्ता नहीं है इसलिए सत्ता रूप में सब में अपने को देखता है और अपने में सब को देखता है बड़े सुंदर ढंग से भाष्यकार भगवान अपने जो है दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र में कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतम ताकि सारा का सारा विश्व ये दर्पण में दिखने वाले नगर के समान है कहा ये सारा का सारा यदि दर्पण में दिखने वाले नगर के समान है यदि ये, ये प्रतिबिंब है तो किस दर्पण में दिख रहा है कहा आत्मदर्पण में दिख रहा है कहा ये बात समझ में नहीं आई आत्मदर्पण में यदि जगत दिख रहा है तो अंदर दिखना चाहिए बाहर क्यों दिख रहा है कहा बस की बात है स्वप्न आपको अंदर दिखता है कि बाहर दिखता है, हाँ। स्वप्न आपके अंदर है पर निद्रा दोष के कारण स्वप्न बाहर दिखता मालूम हो रहा है सारा जगत आपके अंदर है पर माया दोष के कारण बाहर दिखता मालूम हो रहा है किसी ने प्रश्न कर दिया कि जो है यदि ये सारा का सारा जगत यह प्रतिबिंब है तो बिंब कहाँ है उसका ऐसा भी प्रश्न कर देते हैं लोग प्रतिबिंब है तो बिंब कहाँ है अभिनव गुप्त कहते हैं कि भाई बिंब तो नहीं दिखता तो मैं क्या करूं प्रतिबिंब ही दिखता है का ऐसे काम नहीं चलेगा बताना पड़ेगा प्रतिबिंब है तो बिंब बताना पड़ेगा अभिनव गुप्त ने कहा अच्छा ये बताओ कि बिंब प्रतिबिंब का उपादान कारण है कि निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं है बिंब प्रतिबिंब का उपादान कारण नहीं हो सकता है क्योंकि उपादान कारण स्वयं परिणत होता है पर बिंब की परिणति जो है प्रतिबिंब में नहीं होती है इसलिए उपादान कारण नहीं है कहा फिर कहा फिर निमित्त कारण है कहा निमित्त कारण है तो निमित्त कारण तो बदल सकता है कोई भी हो सकता है यहाँ जो आत्मशक्ति है वह आत्मशक्ति ही ये जो है वह आत्म पर्दे पर जो है वह आत्म दर्पण में सारे के सारे जगत चित्र को बिना किसी बिंब के दिखा देती है और फिर उन्होंने कहा यह तुम्हारी धारणा गलत है कि बिंब हो तभी प्रतिबिंब दिखता है जो शरीर जो है समाप्त हो गए हैं अग्नि में जला जला लिए गए हैं वो भी दिख रहे हैं वो भी इस जो है अंदर दिख रहे हैं यदि मन दर्पण में बिना बिंब के ऐसा प्रतिबिंब दिख सकता है यदि जो है श्लोक पढ़ करके चित्रकार अंदर एक बिंब को देख करके और फिर चित्र में प्रतिबिंबित कर सकता है तो वह परमेश्वर की माया शक्ति बिना बिंब के अनंत प्रतिबिंब क्यों नहीं प्रतिभाषित कर सकती है विषय उधर चला गया कहने का तात्पर्य है कि यस, यस, यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मन्यवानुपस्थिति सर्वभेद भूते सुचात्मान ततो न बीजगुप्सते उसका फल कह दिया कि जो है ये गुपु धातु रक्षणार्थक है और गुपेर निंदायाम इस करके उसको स्वार्थ सन भी होता है तो इसका दोनों प्रकार का अर्थ है फिर बताओ ये कार्यकरण संघात की रक्षा में वो निरंतर अपने चित्त को क्यों लगाएगा दूसरी चीज ये है कि जब सर्वत्र आत्मदर्शी होगा तो किसी की निंदा कैसे कर सकता है निंदा तो तभी हो सकता है जब अपने से बाहर थे एक वहां एक संत की बात एक संत ने कहा उन्होंने कहा कि देखो किसी ने उनसे कहा कि आपके पास का जो शिष्य है वो गड़बड़ी करता है आप उसको आश्रम से बाहर नहीं निकालते हैं उन्होंने कहा मैं क्या करूं आकाश यदि किसी पर नाराज हो तो कहाँ फेंक सकता है कोई जगह होनी चाहिए फेंकने के लिए ना मैं भी जानता हूँ मैं भी समझाता हूँ शासन भी करता हूँ पर फेंकू कैसे आकाश अपने से बाहर कहा किसको निकाल सकता कहने का तात्पर्य है कि जब सर्वत्र आत्मदर्शी है तो आत्मदर्शी है तो वह निंदा कैसे कर सकता है यद्यपि ये विषय गहन है पर इसके ऊपर अलग से चर्चा हो तभी बात समझ में आती है ये जो व्यवहार होता है ये व्यवहार एक प्रकार का है पर इसमें समझ जो है वो समझ के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है एक जगह मैं पहुंचा अमरकंटक में एक महात्मा जो है वह बैठे थे भोजन बनाए थे भोजन कराए रात्रि का समय था ठंडी का दिन था हमसे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप थोड़ा उधर चले जाओ मुझे कुछ काम है और मैं पिंडरा रोड से पैदल चल करके अमरकंटक गया था बहुत थका हुआ था मैं ठंडी का समय था मैं धोनी के पास बैठा था मैंने कहा स्वामी जी मुझे बैठे रहने दो आप कोई काम कर लो कहो तो आंख बंद कर लू मैं कहा नहीं आंख मत बंद करिए पर आपको जरा बुरा लग जाएगा मैंने कहा मुझे कुछ कर लीजिए उन्होंने क्या किया कि अपने नौकर को बुलाया जंगल में आश्रम था इतनी जोर बिगड़ी ऐसा क्रोध उन्होंने किया कि मानो पृथ्वी फट जाएगी हमने सोचा बात तो स्वामी जी ने ठीक कहा था पर जब वो नौकर चला गया दो एक जवाब दिया फिर चला गया फिर हमसे कहा कि देखो स्वामी जी मैं जंगल में रहता हूँ अकेले काम नहीं चलता इन नौकरों को बड़ी सुविधा मैंने दिया पर एक यही अस्त्र है जिस अस्त्र से ये टिकते हैं नहीं तो टिकते नहीं एक यही व्यवहारिक अस्त्र है जिस अस्त्र से मैं जो है यहाँ टिका हूँ नहीं तो नौकर टिक नहीं सकता मैं बहुत सुविधा दे करके देख लिया अब बताओ कि आकृति दिख रही है क्रोध की पर तो उनके अंदर क्या तो बड़ा कठिन है ये जगत की बात ज्ञानी के व्यवहार को अज्ञानी के अज्ञानी कैसे समझ सकता है बड़ी जटिलताएं हैं इसलिए इस विषय को यहीं पर छोड़िए आगे चलिए समय तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दूसरा है <clears throat> यस्मिन सर्वाणी भूतानी आत्मैवाभूत बीजानत तत्र को मोह का शोक एक मन ये फल है देखिए आत्मज्ञान का फल यही है जिसको नारद ने कहा था कि मैं सभी वेदों को जानता हूँ पर फल उदय नहीं हुआ तथापि सोचा मैं भगवान कहा कि यस्मिन सर्वाणी भूतानी जिस स्वरूप में अथवा जिस काल में जिस आत्म स्वरूप में सर्वाणी भूतानी आत्मैवाभूत बीजानत बीजानता आत्मैवाभूत जब पर्दे में आप बैठ करके देखेंगे तो सारा चित्र आपको आत्मरूप दिखाई देगा चित्र में बैठ करके देखेंगे तो चित्र अलग अलग दिखाई देगा बस इतने मात्र है आपकी अहंता कहाँ टिकी है बस इतना मात्र है आपकी अहंता शरीर में टिकी है आप दूसरे ढंग के दिखाई देते हैं आपकी अहंता सूक्ष्म शरीर में दिख जाए आप दूसरे ढंग से दिखाई देने लगते हैं पर आपकी अहंता यदि स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए अपने वास्तविक जगह में पहुंच जाए तो सारा सारा विश्व आपको आत्मरूप करके दिखाई देगा सर्वात्म भाव की आपको प्राप्ति हो जाती है इसमें सर्वाणी भूतानी भूत किसको भी जानता तत्व का जिसने साक्षात्कार कर लिया है तत्व कोष होता है शोक का निमित्त ही खत्म हो गया मोह का निमित्त ही खत्म हो गया निमित्त होता है भेद में एक में निमित्त नहीं बनता है दो में काम क्रोध इत्यादि सब बन सकते हैं पर आत्म जब एक ही आत्मदर्शन है तो एक में कोई भी निमित्त नहीं बन सकता है स्वर्ण में आपकी दृष्टि केंद्रित है तो आभूषण अच्छा है खराब है ये निमित्त नहीं बनता है स्वर्ण में एकत्व है आभूषण में भले ही भेद दिखाई दे दृष्टि कहाँ केंद्रित है यहाँ ये है आपकी अहंता वस्तुतः जो है कहाँ केंद्रित होती है तो जिस काल में जिस स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो तत्र कह शोक को मोह एकत्व मनुपश्यता एक आत्म तत्व का दर्शन होता है आप कहेंगे बात बहुत कठिन है ये सारा भेद दिखाई दे रहा है इसमें एक आत्म तत्व का दर्शन कैसे होता है नहीं आप व्यवहार में भी इस प्रकार के होते हैं कैसे होते हैं देखिए इंद्रियों के द्वारा ये जगत दिखाई दे रहा है और जैसा दिखाई देता है सब जगह आप वैसा मानते हैं क्या कहीं आप पहुंच जाते हैं आपको पूरब दिशा पश्चिम दिखाई देने लगती है पर सूर्य उदय होता है तो आप क्या कहते हैं जो पश्चिम मालूम हो रहा है मुझे वह पूरब बुद्धि में क्या निर्णय करते हैं बुद्धि का जो निर्णय है वही वस्तुतः आपकी स्थिति है एक जो है वह भाष्यकार भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं बड़ा मार्मिक उदाहरण देते हैं कहते हैं भी भीकुर्वन व्याघ्र बेशन बेशम भृत भीषेन्यस्य मुग्धान मत्वा व्याघ्रो हम इतम सनर पशु मुखान बाधते किम नु सत्वान मत्वा स्त्री वेशधारी स्त्री मिति कुरते किम नटो भर्तुरिच्छाम शारीर आत्मा पृथग अनुभव तो देह तो यस्य साक्षी हाँ व्यवहार में कैसा होता है हाँ देखो एक व्यक्ति है उसने राजा से कहा कि मैं आपको बाघ बन करके दिखाऊंगा राजा ने कहा ठीक वो चला गया उसने इस प्रकार की साधना की बाघ की बोली बड़ी सुंदर बोल सकता है वो और इस प्रकार अपने शरीर को उसने सजाया कि देखने से बाघ ही मालूम होता है बड़े जोर से दहाड़ करके और वह सभा में आके कूद पड़ता है जो जानते हैं वह रुपया है वो तो नहीं भगते दूसरे लोग तो जान लेकर के भगते हैं बाघ आ गया खा लेगा भाष्यकार भगवान ये प्रश्न उठाते हैं कि उसका बाघ का वेश है बाघ के समान दहाड़ रहा है बाघ के समान व्यवहार दिखा रहा है पर क्या अंदर से जो बाघ को खाने की वृत्ति होती है वह उसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी हिंसा वृत्ति उसके अंदर नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी वो जानता है मैं मनुष्य एक ज्ञान उसके अंदर है बाकी सब दिखा रहा है पर एक ज्ञान उसके अंदर है कि मैं मनुष्य हूं दूसरा उदाहरण दिया भाष्यकार भगवान ने कोई नट है बड़ा सुंदर स्त्री का वेश उसने बताया बनाया ऐसा जो है मुग्ध कर दिया सारी सभा को अपने नृत्य के द्वारा गान के द्वारा अपने शरीर के जो है अवयवों के द्वारा उसने ऐसा मुग्ध कर दिया कि सारी सभा मुग्ध हो जाती है उस पर भाष्यकार भगवान प्रश्न उठाते हैं ये बात तो ठीक है पर उसके अंदर क्या पति की इच्छा होगी सभा मुग्ध हो रही है पर वो स्त्री वेशधारी के अंदर क्या पति की इच्छा हो सकती है नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि वो जानता अपनी इस ज्ञान को काट नहीं सकता कि मैं पुरुष हूं सारा व्यवहार स्त्रीलिंग का कर रहा है पर वो अपनी इस ज्ञान को काटने में समर्थ नहीं है इसलिए उसके अंदर से पति की इच्छा नहीं हो सकती है इसी प्रकार जब आत्म प्रतिष्ठित आप हो जाएंगे तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो सारा व्यवहार करते हुए भी आपका वह व्यवहार कभी भी आप पर हावी नहीं हो सकता है क्यों हावी नहीं हो सकता है कि आपके अंदर एक ज्ञान है और वह ज्ञान है आप जो है आत्म आपकी अहंता तत्व में प्रतिष्ठित है और उस ज्ञान को आप चाह करके भी काट नहीं सकते स्वयं चाह करके भी काट नहीं सकते ही आत्मज्ञान की विशेषता है ऐसी स्थिति में शोक मोह भले ही नाटक में कहीं आपको दिख भी जाए तो भी हो नहीं सकता कहीं दिख भी जाए तो भी हो नहीं सकता है अंदर से स्फुरित हो नहीं सकता है इसलिए स्फुरित नहीं हो सकता कि उसके लिए आधार ही नहीं है क्या हो आधार नहीं है नहीं हो सकता है की एक विशेषता है आत्मज्ञान की और यह आत्मज्ञान की ऐसी विशेषता है कि इसमें प्रतिष्ठित होने के बाद आपके चाहने पर भी वो बदल नहीं सकता है इसलिए इसको बाधित करने वाला कोई प्रमाण नहीं है यह उपनिषद प्रमाण से प्राप्त जो आत्मज्ञान है वह किसी भी प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है अब अंत में आत्म तत्व का प्रकरण यहाँ समाप्त हो रहा है और श्रुति आपको कहती है इसको समाप्त करके फलश्रुति तो कह दिया और उसके बाद जो है श्रुति कहती है तत्र को मोह कशो का एक अनुपश्यत सपरेगा शुक्र मकाय मब्रण अस्नागिरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू या था तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वती भ्य कि आत्मा का यहाँ तक जो समझाया गया है उसका एक निचोड़ दे दिया समझने के लिए अंत में उपसंहार दे दिया इसी आठवें मंत्र में आत्मज्ञान का प्रकरण समाप्त हो जाता है और एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रकरण आगे आएगा जिसको हम कल समाप्त कर देंगे एक सार रूप में कल समाप्त कर देंगे यहाँ तक आत्मज्ञान का प्रकरण हो गया इसमें दिखाया कहाँ है अपने को आप सोचिए सपरेगात वो आत्म तत्व परेगात परितः अगात कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ न गया हुआ हो यानी आप शरीर की अहंता को यदि छोड़ दें तो आपकी व्यापकता को कोई काट नहीं सकता है इसके आगे के जो विशेषण हैं उन विशेषणों में तीन का अपवाद किया गया है अपने स्वरूप में आवरण क्या है ये स्थूल शरीर एक आवरण है पहला आवरण स्थूल शरीर है स्थूल शरीर के साथ हमारी अहंता टिक जाती है स्थूल शरीर को लेकर के व्यवहार होता है पर इसका मतलब ये नहीं कि स्थूल शरीर आप हो जाएंगे तो इसलिए पहले स्थूल शरीर से पृथक किया इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है वह सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो फिर जो है कर्म वासना के अनुसार दूसरा स्थूल शरीर मिलता है ये सूक्ष्म शरीर जो है सत्रह तत्वों का है पंच ज्ञानेन्द्रीय पंच कर्मेंद्री पंच जो है प्राण और मन बुद्धि इसको मिला करके सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीर करण है करण माने जिसके द्वारा कार्य किया जाता है स्थूल शरीर आयतन है जिस घर में बैठ करके आप कार्य करते हैं इसके पीछे एक कारण शरीर है कारण शरीर अविद्यात्मक है यदि वह अविद्यात्मक कारण शरीर न हो तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो नहीं सकता है और सूक्ष्म शरीर न हो तो स्थूल शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है इसीलिए वेदांत सारा जोड़ कहा देता है कि वह अज्ञान रूप जो कारण शरीर है यदि उसका ध्वंस कर दिया जाए अज्ञान का नाश कर दिया जाए तो उस अज्ञान के आधार पर जो पल्लवित पुष्पित जो है सूक्ष्म और स्थूल शरीर है वहां से अहंता अपने आप समाप्त हो जाएगी इसकी इसमें यही बताया सपर ज्ञात शुद्ध मपा शुद्ध के द्वारा जो है यहाँ बता दिया कारण शरीर रहित है विद्ध है और आगे अब्रणम इत्यादि के द्वारा स्थूल शरीर का निषेध कर दिया सूक्ष्म शरीर का निषेध कर दिया तीनों शरीरों का निषेध कर दिया यहाँ पर संक्षेप में ये बता दिया आप तीनों शरीरों से रहित करके तीनों शरीर जिस पे कल्पित हैं तीनों शरीर जिसके लिए हैं तीनों शरीर जो है वह वस्तुता जो है जिससे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और शक्ति प्राप्त करके प्रवर्तित हो रहे हैं वो आपका स्वरूप है आपका लक्षण एक ही बन सकता है वह कौन है आपका लक्षण स्वयं प्रकाश आप देखिए स्थूल शरीर भी दिख रहा है सूक्ष्म शरीर भी दिख रहा है आप कहते मेरा मन आज अशांत है यदि आपने मन को जाना नहीं तो कैसे कह दिया मन अशांत है यदि आप मन को जानते हैं तो मन से आप पृथक हो गए आप कहते मेरी बुद्धि डगमगा गई यदि बुद्धि को आपने जाना नहीं तो जो है वह कैसे आपने कहा इसका मतलब सूक्ष्म शरीर का भी प्रकाशक आप स्वयं प्रकाश हैं आपके प्रकाश के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है और आप आपकी शक्ति से ये सारे के सारे केंद्र चल रहे हैं इसलिए ये तीनों शरीर से पृथक अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए तीसरी चीज यहाँ पर इसने ये बता दिया कि वस्तुतः इस परमात्म शक्ति को लेकर के ही हिरण्य गर्भ सारे जगत की व्यवस्था करता है सपरेगा शुक्र मकाय मृण अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी वह चेतन है वह सर्वज्ञ है सर्वद्रष्टा है और मन पर भी शासन करने वाला है मन उसकी शक्ति को लेकर के व्यवहार करता है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू वह सर्व रूप में वही है और स्वयं जो है सर्वरूप में हुआ है किसी अन्य उपादान को लेकर के सर्वरूप में नहीं हुआ है और वही हिरण्य गर्भ रूप में अपने को उपाधि से अभिव्यक्त करके जो प्रजापति जो नित्य प्रजापति हैं इन प्रजापतियों का विभाग कर दिया तुम्हारे लिए ये जो है शासन है तुम्हारे लिए ये विभाग है तुम्हारे लिए ये विभाग है और उसी विभाग के द्वारा सारे के सारे जगत की व्यवस्था चलती है यहाँ पर लिया करके इसका परिवसान कर दिया और ये जो है पहले श्लोक का प्रकरण समाप्त हो गया अब आठवें के बाद नवे श्लोक से नवे मंत्र से कल विचार करेंगे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति परम पूज्य श्री रामानंद जी सरस्वती मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर द्वारा ईशावास्योपनिषद पर त्रिदिवसीय प्रवचन सत्र स्थान श्री रामकृष्ण मठ धंतोली नागपुर प्रस्तुत है दिनांक 9 मार्च उन्नीस का तृतीय एवं अंतिम प्रवचन संपूर्ण सृष्टि सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला पर ब्रह्म परमात्मा भगवत स्वरूप संत वृंद तथा अध्यात्म जिज्ञास जन शुक्ल यजुर्वेदीय कारण शाखा के ईशावास्य उपनिषद पर विचार चल रहा था दो दिन से इस पर विचार चल रहा है वेदांत समझने के लिए एक बात ध्यान में रखनी होगी कि दो विरोधी बातें आपको एक साथ समझनी पड़ी यदि एक साथ दोनों का सामंजस्य नहीं बना तो वेदांत समझ में नहीं आएगा वह तत्व तो अनिजत है ये भी समझना पड़ेगा अभी तक वह तत्व स्पंदित नहीं हुआ ये समझना पड़ेगा और सारी गति भी उसी में है ये भी समझना पड़ेगा मत्स्थान सर्वभूतान ये भी समझना पड़ेगा और नच मत्स्थान भूतान ये भी समझना पड़ेगा जो यहां तक न पहुंचेगा उसको ऐसा लगेगा कि मानो भनो भगवान ने भांग खा करके बोल दिया एक पंक्ति में कहते हैं मत खानी सर्वभूतानी सभी क्या सभी प्राणी मुझ में है सारा जगत मुझ में है और दूसरे पंक्ति में बोल देते हैं नचबत खानी भूतानी मेरे अंदर कोई भी नहीं पर ऐसी बात नहीं दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है सारा प्रतिबिंब दर्पण में है पर दर्पण के तरफ से यदि दर्पण से पूछो तो दर्पण कहता है मेरे में कोई प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि दर्पण के साथ किसी प्रतिबिंब का किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है एकमात्र दर्पण ही है वहां पर प्रतिबिंब नाम की पृथक कोई वस्तु नहीं है ये दोनों बातें जब एक साथ समझ में आवे तो हम कैसे निष्क्रिय व्यापक पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप है और कैसे जो है वह विभिन्न प्रकार का व्यवहार भी हो रहा है ये बात समझ में आ जाए अन्यथा नहीं है व्यवहार में भी देखिए ऐसी बात नहीं है कि परमार्थ का जो विचार चलता है उसको हमको व्यवहारिक जीवन में अनुभव नहीं है आपको बहुत अनुभव है इस विषय में आप जाते हैं रिजर्वेशन करा लेते हैं ट्रेन में बैठते हैं और बैठे हुए व्यक्ति को कहते हैं मेरी बर्थ है तुम दूसरे जगह जाओ उसको उठना पड़ता है वो चला जाता है दूसरी बर्थ पर चला जाता है पर आप विचार करके देखिए आपकी बर्थ है नहीं आपकी वर्थ नहीं है पर आपकी वर्थ है ये दोनों बातें एक साथ समझनी पड़ेंगी आपकी बर्थ क्यों नहीं है क्योंकि जो है आपका स्टेशन आया आप उतर गए बर्थ कहाँ गई ट्रेन कहाँ गई आपको पता ही नहीं है आपकी बर्थ कहाँ है पर उतने देर के लिए यह भी सत्य है कि आपकी बर्थ है यह व्यवहारिक सत्य है वह पारमार्थिक सत्य है आज कहते हैं कि प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति है कल आप कह देते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री है जिस समय प्रधानमंत्री है आप कहते हैं और व्यवहार में भी सारी सुविधा सारी चीजें दिखाई देती हैं तब उसको भूतपूर्व प्रधानमंत्री आगे चल के क्यों कह देते हैं वस्तुतः उतनी देर के लिए उसके प्रधानमंत्री संज्ञा हो गई वास्तव में तो वह एक मनुष्य है प्रधानमंत्री नहीं ठीक इसी प्रकार हमको वेदांत में समझना पड़ता है कौन सा वाक्य परमार्थ दृष्टि से कहा गया है कौन सा वाक्य व्यवहार दृष्टि से कहा गया है ये दोनों दृष्टियों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक व्यवहार तो प्रतीत ही होगा इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं एक सज्जन ने बहुत सुंदर प्रश्न एक आज रखा है कहीं मैं बोलते बोलते भूल न जाऊं इसलिए पहले उसी के विषय में थोड़ा विचार करके तब उपनिषद में जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे यद्यप आज का उपनिषद का विषय भी ऐसा है कि जिसको बहुत ठीक समझना है बिना उसके समझे जो है शास्त्र का मर्म समझ में नहीं आता है सज्जन का प्रश्न बड़ा सुंदर है जब आप कहते हैं कि जो है आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं व्यापक हैं निर्गुण हैं निराकार हैं ऐसा आपका स्वरूप है स्वरूप इसी प्रकार का है इसमें संशय नहीं परंतु फिर आत्मज्ञान का ब्रह्मानुभूति का क्या अर्थ हुआ ब्रह्मानुभूति के लिए प्रयास कौन कर रहा है अब उसको ब्रह्मानुभूति किस प्रकार होगी यदि वह स्वयं ब्रह्म है तो ब्रह्मानुभूति किस प्रकार की होगी बात ठीक है प्रश्न इसलिए उठता है कि अभी तक हम लोगों को अनुभूति जो हो रही है यह अनुभूति इदम की होती है हम भी ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म की अनुभूति भी इसी प्रकार की होनी चाहिए पर ब्रह्म की अनुभूति इस प्रकार की नहीं हो सकती है ब्रह्म स्वरूप भूत है इसलिए इदम तया करके तो स्वरूप की अनुभूति कोई कर नहीं सकता है इसीलिए शास्त्र दोनों बातें कहता है क्या कहता है इधर तो कहता है मन वाणी का विषय नहीं है ब्रह्म स्वरूप मन वाणी का विषय नहीं है क्योंकि स्व में मन वाणी का प्रवेश नहीं हो सकता है पर मन से बोधव्यम मन के द्वारा ही जाना जाता है बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है यह बात भी शास्त्र ही कहता है दोनों बातें एक दृष्टि से विरोधी प्रतीत होती हैं पर जब हम समझने की दृष्टि से विचार करते हैं तो शास्त्र इसका समाधान करता है ब्रह्मण अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते स्वयं प्रकाश रूप आभास से उपयोगिता न दो चीजें हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी का दर्शन कैसे होता है कैसे हम जानते हैं ये घड़ी है इसमें वेदांत की एक प्रक्रिया है आपके अंतकरण की वृत्ति नेत्र के माध्यम से तदाकारता को प्राप्त होती है घड़ी के आकारता को प्राप्त होती है अंतकरण की वृत्ति और उसी के द्वारा जो अज्ञान है घड़ी का वह ध्वस्त होता है अज्ञान का नाश उससे होता है और अंतकरण के अंदर जो प्रतिभास है उस प्रतिभास के द्वारा जो इसको हम फल चैतन्य कहते हैं उसी के द्वारा घड़ी प्रकाशित होती है तब हम जानते हैं कि घड़ी का ज्ञान हुआ वेदांत कहता है कि ब्रह्म विषय का ज्ञान है हमको हम ब्रह्म हैं पर ब्रह्म विषय का ज्ञान है हम अपने को नहीं जानते हैं हमने यही समझ लिया है कि मैं शरीर हूं मैं इंद्रिय हूं मैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर हूं इसलिए ब्रह्म विषयक अज्ञान तो है हमारे अंदर उस अज्ञान को ध्वंस करना पड़ेगा और उसी के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है उस अज्ञान को ध्वस्त करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है इसीलिए बारंबार ये प्रयास किया जाता है जो हमारी बुद्धि वृत्ति बाहर फैली हुई है उसको हम समेटें और समेट करके जो है अंतर्मुख करें अंतर्मुख करने पर अंतकरण जो है वह स्वरूपाकार में फटेगा स्वरूप के आकार में जब हमारी बुद्धि फटेगी तो फिर अज्ञान का ध्वंस होगा और उसके बाद जो लोक में जानने के लिए फल की उपयोगिता है वहाँ फल की उपयोगिता न होने के कारण वह मन का विषय नहीं है और जो है अज्ञान के ध्वंस के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होने के कारण वह मन का विषय है इस दृष्टि से दोनों शास्त्रों का सामंजस्य बनता है मैंने एक आपको उदाहरण दिया था और उस उदाहरण की तरफ यदि ध्यान देंगे तो आपको यह बात और भी सुंदर ढंग से समझ में आ जाएगी मैंने कहा था कि जो है जगत का आत्मा सूर्य है सूर्य आत्मा जगत अपने सूर्य को आत्मा कहा गया है और मन को चंद्रमा कहा गया है चंद्रमा मन है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा लेता है और लेकर के पृथ्वी को प्रकाशित करता है वह प्रकाश चंद्रमा का नहीं है वह प्रकाश सूर्य का है पर भाषित हो रहा है वह प्रकाश कहा चंद्रमा में प्रकाश भाषित होता है ठीक इसी प्रकार आत्म प्रकाश को लेकर के आत्मा में सामान्य प्रकाश है उस सामान्य प्रकाश हमेशा उपाधि से विशिष्ट होगा जैसे विद्युत गति जो सामान्य प्रकाश है वह बल्ब के माध्यम से विशिष्ट बनता है इसी प्रकार जो है अंतकरण के माध्यम से सामान्य चैतन्य जो है सामान्य चैतन्य का किसी के साथ विरोध नहीं है अज्ञान के साथ विरोध नहीं है सामान्य चैतन्य का विरोध होता तो फिर अज्ञान रह ही नहीं सकता था फिर तो संसार बन ही नहीं सकता था उसका किसी से विरोध नहीं है वह तो सबको सत्ता दे रहा है रस्सी का रस्सी में कल्पित सर्प से किसी प्रकार का विरोध नहीं है क्योंकि वह रस्सी उस जो है सर्प को सत्ता प्रदान कर रही है यदि रस्सी नहीं होती तो सर्प भाषित कैसे होता परंतु विरोध किसका है रस्सी के ज्ञान का सर्प से विरोध जब तक रस्सी का ज्ञान आपको उदय नहीं होगा तब तक सर्प की भ्रांति नहीं जाती है तो रस्सी का विरोध नहीं है पर रस्सी के ज्ञान का विरोध है इसी प्रकार ब्रह्म सबको सत्ता दे रहा है उसका अज्ञान से भी विरोध नहीं है क्योंकि अज्ञान को भी सत्ता दे रहा है और ये जगत से भी विरोध नहीं है क्योंकि जगत को भी सत्ता दे रहा है वही सत्ता देने वाला है वेदांत में एक ही सत्ता है और वह प्रकाश रूपा सत्ता है इसलिए उसका तो विरोध नहीं है परंतु जैसे रस्सी का ज्ञान जब उदय होता है तो सर्प ब्रह्म को सर्वथा जो है वह समाप्त कर देता है इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान यदि उत्पन्न होगा तो ब्रह्म ज्ञान जो उत्पन्न होगा तो अज्ञान का भी ध्वंस करेगा और अज्ञान के आश्रित रहने वाला ये नाम रूपात्मक जगत ये भी बाधित हो जाएगा पर प्रश्न करने वाले का प्रश्न ये है कि ब्रह्म ज्ञान होगा कैसे क्योंकि ब्रह्म ज्ञान करने वाला जो है वह ब्रह्म है और ब्रह्म है तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा ये प्रश्न है इसका उत्तर मैं यही जो है वह पहले दे चुका और अब आपको और भी सुंदर ढंग से आपको आपकी दृष्टि वहां केंद्रित करना चाहता हूँ इसीलिए सूर्य चंद्रमा का मैं दृष्टांत दे रहा हूं अमावस्या का पर्व हमारे यहाँ पड़ता है उस दिन चंद्रमा का दर्शन पृथ्वी से नहीं होता है वो नहीं पृथ्वी से होता है इसलिए नहीं होता है कि सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा ग्रहित कर रहा था उस प्रकाश का मुख सूर्य की तरफ हो जाता है पृथ्वी की तरफ नहीं रहता है पृथ्वी के तरफ न होकर के सूर्य के तरफ हो जाता है आपकी बात ठीक है चंद्रमा का जो प्रकाश सूर्य की तरफ हुआ क्या उस प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होगा उस प्रकाश की सामर्थ्य सूर्य को प्रकाशित करने में नहीं है क्योंकि वह प्रकाश सूर्य को कैसे प्रकाशित करेगा वह सूर्य से ही तो वह प्रकाश जो है वह वह चंद्र चंद्र धरातल से प्राप्त हो रहा है वह सूर्य को कैसे प्रकाशित करेगा सूर्य को तो प्रकाशित नहीं करेगा परंतु एक अनुभूति के तरफ आप ध्यान रखें वही एक क्षण है जब एक ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी जिसको अपने यहाँ साक्षात अपरोक्ष कहते हैं कि इंद्रिय इत्यादि मन इत्यादि के माध्यम के बिना अपरोक्ष यह अपरोक्ष अलग प्रकार का अपरोक्ष है इसको हम साक्षात अपरोक्ष कहते हैं जगत को जब हम जानते हैं तो वहां पर इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से अपरोक्ष होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं पर स्वरूप का जो अपरोक्ष होता है वह इंद्रिय इत्यादि माध्यम की वहां पर आवश्यकता नहीं उसी वही एक क्षण है कि जो चंद्रगत जो प्रकाश है वह प्रकाश अपने मूल स्वरूप सूर्य के साथ एकीभूत होता है और यह जो एकीभूतता है यही अनुभूति है वहां दूसरे प्रकार की अनुभूति नहीं है चंद्र प्रकाश जो है वह सूर्य प्रकाश प्रकाश रूप होता है और यह अनुभूति इतनी गहरी है कि यह अनुभूति एक बार उदित हो जाए तो कभी भी जो है बाह्य दशा में भी जब चंद्रमा जगत को भी प्रकाशित करेगा तो भी उस अपनी अनुभूति को काट नहीं सकता है यही है जगत को बाध करने का उपाय थोड़ा और ध्यान दें आप अपने विषय में जो आपको ज्ञान है मैं हूँ अस्तित्व के विषय में जो आपको ज्ञान है वह आप क्या इंद्रिय इत्यादि के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं जगत को तो आप इंद्रिय मन के द्वारा कर सकते हैं पर ये बताइए कि आप कभी भी सो करके आप उठते हैं कहते मैं कुछ नहीं जाना पर कभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं था कुछ नहीं जाना ये तो ज्ञान होता है पर कोई भी सोने के बाद ऐसा उसको कभी भी नहीं होता कि मैं नहीं था आप बेहोश हो जाते हैं आप उठने के बाद कहते हैं कुछ भी भान नहीं हुआ कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ पर ऐसा नहीं होता कि उस समय मैं नहीं था ये जो अस्तित्व विषय का आपको अनुभूति हो रही है वह कैसे हो रही है जैसे यह अनुभूति हो रही है इसी प्रकार की ब्रह्म अनुभूति है अस्तित्व के विषय में आपको अनुभूति तो है और उस अस्तित्व को हम उपाधि के साथ जोड़ देते हैं यही अज्ञान है और जिस समय उपाधि को आप छोड़ देते हैं आपकी बुद्धि जो है अंतर्मुख होती है तो उस बुद्धि के द्वारा स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है बल्कि वही एक क्षण है जो आभास है बुद्धि में वह आभास अपने मूल स्वरूप से एकीभूत हो जाता है आप कल्पना करें कि सूर्य आकाश में है और एक हजार घड़े रखे हुए हैं एक हजार सूर्य दिखने लगते हैं एक हजार सूर्य दिख रहे हैं पर एक हजार सूर्य है नहीं और जैसे घड़े में जिस प्रकार का पानी है यदि नीला जल है तो नीला सूर्य दिख रहा है यदि पीला जल है तो पीला सूर्य दिख रहा है काला जल है तो काला सूर्य दिख रहा है हिलता जल है तो हिलता सूर्य दिख रहा है और जो है स्थिर जल है तो स्थिर सूर्य दिख रहा है पर इतने अवस्थाओं में एक ही सूर्य दिख रहा है पर जिस समय इतने अवस्थाओं में सूर्य दिख रहा है उस समय भी सूर्य इन सभी अवस्थाओं से सर्वथा पृथक अब मान लीजिए यदि किसी भी जो है घड़े के जल में दिखने वाले सूर्य उस सूर्य में देखिए दोनों चीजें हैं व्यापक जो सूर्य का सूर्य प्रकाश है वो भी है वह आधारभूत प्रकाश है और उसमें जल के कारण प्रतिफलित होने वाला जो प्रकाश है वह प्रकाश है ये दोनों प्रकाश मिल जाते हैं इसीलिए जीव संज्ञा अपने यहाँ किसकी होती है सामान्य चैतन्य विशिष्ट चैतन्य और अंतकरण ये तीनों को मिलकर के ही जीव संज्ञा होती है इसमें अंतकरण उपाधि है सामान्य चैतन्य स्वरूप है अंतकरण रूपी उपाधि के कारण सामान्य चैतन्य विशिष्ट चैतन्य के के कारण प्रतीत होता है पर अंतकरण रूपी उपाधि को यदि छोड़ दिया जाए तो वह विशिष्ट चैतन्य सामान्य चैतन्य में लीन हो जाता है घड़े के किसी भी सूर्य को अपने को जानने की यदि इच्छा उत्पन्न होगी और वह प्रयास करेगा तो कहां पहुंचेगा एक ही स्थान में पहुंचेगा और सभी सूर्य एक ही स्थान में पहुंच करके अपनी यात्रा समाप्त कर पाएंगे बीच में उनकी यात्रा समाप्त नहीं होगी पर सूर्य भाव को प्राप्त होने के बाद अनुभूति क्या उत्पन्न होगी सभी घड़ों में मैं ही सूर्य हूं ये अनुभूति यही है सर्वात्म भाव यह भाव है सभी घड़ों में जो है वह अपनी ही व्याप्ति उसको दिखाई देगी वह चा, वह चाहे न चाहे किसी भी प्रकार का हो पर यहाँ अपने मूल स्वरूप में पहुंचा वहाँ सभी घरों में एक अपनी ही व्याप्ति होगी यही महापुरुष का सर्वात्म भाव है उसकी जो दृष्टि है वह बड़ी विलक्षण है वह किसी को थप्पड़ भी मारता है तो अपने से बाहर करके नहीं मार सकता है क्योंकि वह सर्वत्र भाव का त्याग कर ही नहीं सकता है यह बाद की अनुभूति है विषय गंभीर था थोड़ा मैंने विचार किया और समझने वाले इसके लिए प्रयास करेंगे अब मैं प्रस्तुत विषय पर आ रहा हूं पहले दिन हमने बता दिया था ये दो प्रकार के अधिकारी हैं शास्त्र के विषय में कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए चालाकी से शास्त्र कभी समझ में आता नहीं क्योंकि शास्त्र एक अनुभूति है और अनुभूति के ऊपर कितने भी बुद्धि का प्रयोग कोई बुद्धिमान कर ले पर अनुभूति को काटा जा नहीं सकता बुद्धि प्रयोग से अनुभूति को आप नहीं काट सकते इसलिए शास्त्र को सदा अनुभव से समझना चाहिए यह प्रत्यक्ष है कि दो प्रकार के जो है सभी लोगों के बीच में जो हम देखते हैं तो दो प्रकार का व्यक्तित्व दिखाई देता है एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जगत से ऊपर उठ चुका है जिसने ये परीक्षा कर लिया है कि यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत चाहे कितना भी विलक्षण कर्मजित कर्मजित जितना भी लोक है वो अविनाशी है अविनाशी कभी हो नहीं सकता है और यदि हम सच्चे तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को इससे हटाना पड़े ऐसा जान करके वो अकामयमान इसी मंत्र का मंत्रोपनिषद का व्याख्यान बृहदारण्य में है जो इसी इसी का जो है इसी कारण शाखा का वह उपनिषद है वह ब्राह्मण भाग का उपनिषद है ये मंत्र भाग का उपनिषद वहां बड़े स्पष्ट रूप में दो विभाग कर दिया एक विभाग यही है आपके अंदर कोई भी कामना नहीं है कोई भी कामना माने बहुत लोग आजकल ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई कामना क्यों नहीं है आप आत्मदर्शन करना चाहते हैं ये ही कामना है नहीं ये कामना नहीं है कामना है स्व से भिन्न जो विषय है जो विषय आपसे बाहर है उसका जो लोभ आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है उसकी जो चाहना उत्पन्न हो रही है इसका नाम कामना है लोग बड़ा आक्षेप लगाते हैं कि देखो साधु तो बड़ी भारी अपनी आत्मकामना करके सब जगत छोड़ करके जंगल में बैठ जाता है बड़ा अन्याय करता है वह हाँ, अन्याय नहीं करता है आप उसको समझ नहीं रहे हैं वह इतना बड़ा कार्य कर रहा है इतना बड़ा कार्य कर रहा है कि सारे विश्व को अपने अंदर लेने का प्रयास कर रहा है आप बाहर रख करके सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं इतने नहीं वो इससे भी बड़ा कार्य कर रहा है क्योंकि सारे विश्व को अंदर जो रख लिया वो सारे विश्व की समस्या का समाधान करने वाला हो जाएगा भारतीय परंपरा बड़ी विलक्षण है इसको समझने की आवश्यकता है तो एक अकामय मान जो था उसके लिए बता दिया कि तुम उस अपने व्यापक स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए दत्तचित्त हो जाओ क्यों दूसरे के लिए क्यों नहीं कहा दूसरा दत्त चित्त हो नहीं सकता है जो अकामय मान है वही दत्त चित्त हो सकता है जब तक आपके जगत की वासना है तब तक आप स्वरूप में दत्त चित्त नहीं हो सकते हैं कह सकते हैं परोक्ष ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं पर दत्त चित्त नहीं हो सकते हैं तब तक आप शरीर की अहंता छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि शरीर की अहंता छोड़ने की सामर्थ्य हो तो भोग की इच्छा कैसे हो सकती है यदि भोग की इच्छा है तो अवश्य ही आप में यह कमजोरी है कि शरीर की अहंता आप नहीं छोड़ सकते भोग शरीर अहंता पर खड़ा रहता है और यहाँ पर यदि तत्व में प्रतिष्ठित होना है तो सीमित अहंकार को आपको छोड़ना पड़ेगा सीमित अहंकार को छोड़ने का जो अभ्यास है वह वही कर सकता है कि जो जगत की कामना से रहित हो गया हो वो यह एक सच्चाई है जिस सच्चाई को हमको अनुभूति से स्वीकार करना चाहिए फिर तर्क से भी स्वीकार करना चाहिए आप विचार करके देख लें कामना वाला कैसे हो सकता है कैसे ऐसा अभ्यास करेगा नहीं कर सकता है तो उसके लिए वह ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं पर उस ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है और ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य न हो और उस कक्षा में बैठा दिया जाए किसी को जो अभी हाई स्कूल की योग्यता नहीं प्राप्त किया है उसको एम के कक्षा में ले जाकर के दस वर्ष बैठा दीजिए तो क्या वह एम ए की शिक्षा को प्राप्त कर ले योग्यता की आवश्यकता होती है इसमें कोई विरोध नहीं है कोई पक्षपात नहीं है पर योग्यता की बात है माता पक्षपात नहीं करती है एक बालक को जो है वह सुंदर गाढ़ा दूध पचता है माता उसको जो है गाढ़ा दूध पिलाती है दूसरा बालक है उसको गाढ़ा दूध नहीं पचता है माता उसको सादा दूध पिलाती है और तीसरा बालक है बिना पानी मिलाए उसको पचता नहीं है उसको पानी मिला करके दूध पिलाती है माता के भाव में कहीं भी भेद नहीं पर बालक के पाचन शक्ति में भेद है माता तो चाहती है कि सभी को गाढ़ा दूध पच जाए पर गाढ़ा दूध पिलाने से पचेगा नहीं आत्मे वह योग्यता उत्पन्न करनी पड़ेगी और उस योग्यता उत्पन्न करने के लिए पानी मिला करके दूध पिलाना पड़ेगा पानी मिला हुआ दूध जिस दिन पचने लगेगा तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे सादा दूध पचने की जो है उसमें शक्ति आ जाएगी और सादा दूध जब पचने लगेगा तब गाढ़े दूध को भी पचाने की शक्ति आ जाएगी माता के हृदय में प्रवेश होकर के हम देखें कहाँ पक्षपात है श्रुति में कहीं पक्षपात नहीं है शास्त्र में कहीं पक्षपात नहीं है किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है अस्तु यहाँ पर हमको केवल